وانفعنا بما علمتنا

और वेद वेदांत की एक विशेषता है विचार की शैली अलग अलग है देखो कुछ मजहब ऐसे हैं दुनिया में जो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य चाहे कितना पाप करे चाहे कितना पढ़ करे प्रलय के दिन तक सबको कवर में रहना पड़ता है एक और प्रलय के बाद प्रलय होने पर उनके पैगंबर जिसके ऊपर खुश होंगे सिफारिश कर देंगे तो वो हमेशा के लिए विनिष्ठ में चला जाएगा हमेशा स्वर्ग और यदि वे सिफारिश नहीं करेंगे तो चाहे कोई पापी हो चाहे कोई आत्मा हो उसको दोजस में जाना पड़ेगा इसलिए उनके मजहब में अगर आदमी शामिल हो जाए तो उनके पैगंबर सिफारिश करके विशिष्ट में भिजवा देंगे स्वर्ग में भिजवा देंगे और यदि उनके मजहब को न माने तो वे सिफारिश नहीं करेंगे वो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो उसको नरक में जाना पड़ेगा वैदिक धर्म में वेदांत धर्म में हिंदू धर्म में ये बात नहीं मानी जाती पता उसकी एक खास विशेषता है आप उस पर ध्यान दें जो खूब खूब पूर्ण करेगा उसकी चाहे कोई सिफारिश करे चाहे ना करे वो अपने पूर्ण के बलवान पर रह जाएगा और जो पूरा काम करेगा उसकी चाहे कोई सिफारिश करे चाहे न करे वो नरक में जाएगा तो एक बात हो गई सिफारसी और एक बात हो गई अपने कर्म के अनुसार था ये मजहब का फर्क देखो तो दूसरा फर्क कि चाहे कोई कितना भी कोई पाप करे वो स्वर्ग में जाएगा और चाहे कोई कितना भी पूर्ण पाप करे वो नरक में ही जाएगा वो तो सिफारिश की गई कि नहीं ये बात रह गई अपने यहां ऐसा मानते हैं वेद में वेदांत में शास्त्र में कि जो ज्यादा पूर्ण करेगा वो ज्यादा दिन स्वर्ग में रहेगा उसको ज्यादा अच्छा जन्म होगा और जो कम पुण्य करेगा वो कम दिन स्वर्ग में रहेगा और कम दिन के लिए उसको थोड़े दिन के लिए उसको सुख सौभाग्य मिलेगा कर्म की नाप तौर के अनुसार मिलेगा हो सिफारिश के अनुसार नहीं किसी काफी ने छोटा काम किया है थोड़े दिन नरक में रहेगा थोड़े दिन पशु पक्षी जोनी में रहेगा किसी ने बड़ा पाप किया है तो बहुत अधिक दिन नरक में रहेगा और बुरी जोनियों में रहेगा तो अब आप न्याय की दृष्टि से विचार करो तो हिंदू धर्म की मान्यता में वेद वेदांत के धर्म की मान्यता में और दूसरे मजहबों की मान्यता में जो फर्क है उसको समझना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है वो तो अपनी श्रद्धा का अपने विश्वास की बात है लेकिन न्याय देखो कम दाम कम दे ज्यादा खोए ज्यादा खोए पाप पूर्ण के न्यूनाधिक से तारतम्य से कमोबेशी से हाँ, मनुष्य को नरक स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होती है इसमें हाँ, जो बारिश नहीं चलती है ये एक मजहब का फर्क मैंने बताया फर्क न हो सब एक ही हो ना हाँ तो अलग अलग चले क्यों अब देखो बुद्धिमान की प्रवृत्ति ही बुद्धिमान का आकर्षण किधर होता है सबको बराबर एक तरफ सबके लिए बराबर स्वर्ग एक तरफ सबके लिए बराबर नरक सीताराम ये कौन तो सा न्याय है तो वैषम्य हुआ पक्षपात हुआ एक बार राजा भोज के दरबार में एक बच्चे के लिए दो माताएं लड़ती हुई आई हो उसका कहना था मेरा बेटा है और उसका कहना था ये मेरा बेटा है हमको दिलवा दिया जाए दोनों रोए और ये हमारे बेटे को जबरदस्ती लेना चाहती है ये हमारे बेटे को जबरदस्ती लेना चाहती है दोनों में बड़ा भारी झगड़ा था दोनों बेटे की दावेदार राजा भोज के सामने न्याय आया क्या करना चाहिए नहीं निश्चय कर सके तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा तुम लोग निश्चय करो कैसे निर्णय किया जाए वो तरीका बताओ कैसे निर्णय किया जाए कि किसका बेटा है अब महाराज पहला दिन था कालीदास भोज की सभा में महिला तो कपड़ा पहने धोती पहने कुर्ता पहने द्वारपाल उनको दरबार में जाने नहीं देता था उसको कुछ देने का वादा करके कि जो हमको इनाम मिलेगा राजा के दरबार में तो हमको दस रुपया मिलेगा तो पांच रुपया तुमको तो दे देंगे ऐसा द्वारपाल से वादा करके दरबार में गए जब ये न्याय आया तो कालिदास उसके खड़े हो गए हो और कोई बड़े बड़े उनके नवरत्न थे और उनके दरबार में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कालिदास उसके खड़े हो उसके खड़े हो गए तो कहा निर्णय हम करेंगे उन्होंने कहा कोई कुछ ना मत जो मैं निर्णय करता हूं तब तो मानना पड़ेगा उन्होंने कहा कि निर्णय इसका ये है कि बच्चे को काटे तो हिस्से में दोनों को आधा आधा बांट दीजिए अरे लोग हाय हाय हाय क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है अब उन दोनों स्त्रियों में से महाराज एक उठी और बोली कि ये बच्चा पूरा का पूरा दूसरी को दे दिया जाए काटा न जाए और एक थी वो चुपचाप बैठी रही कालिदास ने कहा जो कहती है कि बच्चा जिंदा रहे भले दूसरे के पास रहे वो इसकी असली माँ है, है? और जो कहती है बच्चों बच्चे के काटने में कोई रोती नहीं है चिल्लाती नहीं है दुखी नहीं होती वो इसकी माँ नहीं है न्याय हो गया खोज उसी स्त्री को दिलवा रहे अब ये बात भाई तुम कौन हो तुमको क्या पुरस्कार मिले क्या दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि महाराज उनको पचास तोड़े लगवाए जाए <laughs> <laughs> बोली कि तुम पचास घोड़े क्यों लगवाना चाहते हो है? तो हमको पचास लगेंगे तो आपका जो द्वारपाल है उसको भी पचास लगेंगे <laughs> तो क्यों तो पुरस्कार का आधा लेने का वादा करने पर हमको आपकी सभा में आने दिया है तो सबको बराबर इसका क्या अर्थ बस उसके सिफारिश करवा दो बस और मत करो पाप चाहे जितना करो उससे सिफारिश करवा दो न्याय की बात ये नहीं है न्याय की बात ये है हाँ। जिसका जैसा कर्म हो जितना कर्म हो उसका जितना दंड देना चाहिए और हाँ, उतना दंड मिले और हाँ, जितना पुरस्कार देना चाहिए उतना पुरस्कार तो एक वेदांत धर्म की मान्यता ये यहाँ जो दस बार सौ सौ गुना आनंद का वर्णन है तैतरीय उपनिषद में एक मनुष्य है सार्वभौम है स्वस्थ है विद्वान है सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है धन धान्य से परिपूर्ण है पत्नी अनुकूल है जिसकी हाँ, पत्नी अनुकूल न हो उसके पास जाए कितनी ऊंची कुर्सी हो दुख हाँ, हो जाए पुत्र अनुकूल न हो पति अनुकूल न हो पत्नी अनुकूल न हो अनुकूलता नहीं नहीं कुछ व्यवहार का सार है दूसरे को सुख पहुंचाना दूसरे की सुविधा देखना अगर ये आपको तो नहीं आता है तो व्यवहार नहीं आता है अपनी अपनी चलाने वाला जिद्दी आदमी व्यवहार को नहीं समझता है उससे फलक खड़ा है तो भाई ठीक है बात बात ये हुई सौ गुना मनुष्य का एक आनंद उसका सौ गुना गंधर्व को आनंद उसका सौ गुना कर्म देवता को आनंद उसका सौ गुना आजान देवता को आनंद ऐसे करते करते हिरण्य गर्भ पर्जन दस बार बताया दस बार कि उनसे सौ गुना उनका उनसे सौ गुना उनका उनसे सौ गुना उनका तो ये पहला प्रश्न तो ये है कि आनंद में कमो विषय क्या बोले जो ज्यादा पुण्य करता है उसको ज्यादा आनंद मिलता है जो कम पुण्य करता है उसको कम आनंद मिलता है तो ये पुण्य का जो तारतम्य है मध्यस्थ पूर्व पुण्याम उत्कर्षात वर्धते सुखाम तो जब कम से कम पुण्य और अधिक से अधिक पुण्य दोनों के बीच में रहते हैं तो जिसका जितना अधिक पुण्य उसको उतना अधिक सुख मिलता है और जिसका जितना कम होए उसको उतना कम सुख मिलता है सुखों का कर्म से जो सुख मिलता है उसकी अंतिम सीमा हिरण गर्भ है उसको जो आनंद मिलता है निष्काम ज्ञानी पुरुष को वो आनंद तो मिलता ही है ग्रहण गर्भ का आनंद ब्रह्मा का आनंद तो निष्काम ज्ञानी को मिलता ही है उसके सिवाय अपने स्वरूप का जो आनंद है अनंत आनंद वो भी मिलता है और प्यासे को पानी पीने पर जो मजा आता है वो मजा जिसको प्यास नहीं लगी है उसको खुद पसंद है प्यास लगी और किसी चीज को चाहने लगे कोशिश तो की उसको पाया पा के होगा भोगने के बाद एक सुख हुआ और एक वो है जिसको उस सुख की चाहिए नहीं है श्रोत्रिय अकाम हतस्य ज्ञानी पुरुष है और कामना उसके दिल को घायल नहीं करती है जिसका हृदय कामना से वासना से घायल होता है उसको अपने अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं दूसरा कहेगा तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं दूसरे को तो अच्छा लगेगा पर अपने को पता ही नहीं लगेगा वो अपने को नहीं चाहेगा वो दूसरे को चाहेगा हमारी आंख कैसी है हमारे बाल कैसे हैं हमारे ओठ कैसे हैं हमारी त्वचा कैसी है ये उसको पता नहीं चलेगा अपने को नहीं देख पाएगा वो दूसरे में सुख देखेगा और उसके लिए व्याकुल हो जाएगा उसके लिए व्यास आ जाएगा और जो अपने स्वरूप को देखता है तुम अपनी विशेषता क्यों नहीं देखते तुम्हारे अंदर कितनी मिठास है तुम्हारे अंदर कितना अमृत है तुम्हारे अंदर कितना सौंदर्य है तुम्हारे अंदर कितना माधुर्य है अपने में हीनता का भाव करके अरे हमारे अंदर तो कुछ नहीं जो कुछ है तो सामने वाले में है चलो उनके पीछे और पीछे पीछे चाकूसी करें खुदावत करें अपने को अपने स्वरूप को न देखना कि मैं कैसा हूं और दूसरे को देखना ये अपने में हीनता का भाव है वेदांत इसको बिल्कुल दूर कर देता है रूप नहीं है तो गुण है शील है तो भाव है ना अपना दिल है शरीर नहीं है तो क्या होगा अपना दिल है जो संतोष वाली बातें हैं सुख वाली बातें हैं उन पर उन पर तो लोगों का ध्यान नहीं जाता ऐसी ताड़ी हमारे नहीं है ऐसे बाल हमारे नहीं है ऐसी चमड़ी हमारी नहीं है सब मरो सारे ना अपनी कमी देख देखे है ना अपनी कमी देख देखे ये ब्रज की बोली है बड़े प्यार वहाँ कृष्ण को ग्वाल बाल ताले कह के पुकारते हैं अपने में तो दिखेगी कमी और दूसरे में दिखेगी पूर्णता ऐसी हमारी मोटर नहीं ऐसा हमारा मकान नहीं ऐसा हमारा फर्नीचर नहीं जो है उसका तो मजा नहीं लेंगे और जो नहीं है उसके लिए रो रहेंगे तो अपने पद का जो आनंद है अपने स्वरूप का जो आनंद है आप चैतन्य हैं आप अपने बड़े प्यारे हैं आप हैं आप ईश्वर के साथ मिले हुए हैं आप अपनी विशेषताओं को भूल करके और दूसरे की विशेषताओं की कल्पना करके और उसके लिए रोते हैं हमारे ये नहीं हमारे ये नहीं हमारे ये नहीं कभी मैंने एक चुटकुला पढ़ा था चुटकुला मैना एक चिड़िया होती है मैना यहाँ क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है हिंदी में मैना बोलता है और उसका बच्चा एकदम रोने लगा माँ ने पूछा कि बेटा क्या रो रहा है वो बोला कि हमको तो मोर का जो बच्चा है ना सामने पेड़ पर मोर है मोर का बच्चा है हमको तो वैसी हाँ, हाँ। रंगा रंग देख चाहिए हमको वो शरीर चाहिए वैसा तो क्या हाँ। हरा है पीला है नीला है क्या करते है वो चमाचम चमकता है उसने कहा हमको तो वैसा शरीर चाहिए रोग है हमको तो, तो वैसा शरीर चाहिए मैना ने कहा कि अच्छा बेटा हाँ, कल मैं तुमको बताऊंगी अब कल हुआ फिर रोने लगा बोले चलो चले तो वो जहाँ मोर का घोसला था पेड़ पर जहाँ मोर रहता था वहाँ गई तो वहाँ मोर का बच्चा रो रहा था अच्छा सुनो बेटा ये क्यों रो रहा है तो मोर का बच्चा अपनी माँ पे रोता था तो माँ ने पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए बोले हमको तो वो जो पड़ोस में मैना रहते हैं ना उसकी जैसी आवाज चाहिए न मोर को अपनी सुंदरता का अनुभव है और न मैना को अपनी आवाज की मिठास का अनुभव है दोनों अपने में कमी का अनुभव करके रोते हैं और दूसरे की विशेषता देखते हैं यही संसार की यही संसार की हालत है अपनी आंख तो आदमी को दिखती नहीं है कि कैसी है दूसरे की आंख देख खेल उठा जाता है है ना आपने अपनी आंख की पुतली पीछे नहीं देखी होगी कुछ कभी नहीं जो बहुत पास रहती है चीज वो मालूम नहीं पड़ती है अपना स्वरूप चूंकि सबसे पास है हाँ, मेरा मैं मेरे से ज्यादा पास है मेरा पैसा है ना मेरी औरत मेरा मर्द मेरा बेटा मेरा मकान मेरा मेरा जो चीज दुनिया में होती है वो तो दूर होती है सबसे पास तो बल्कि पास पास भी कहना गलत ऐसा है अपना मैं उसकी विशेषता दिखा देना ये वेदांत का काम है आखिर आप क्या हैं अपने आप को तो जानते नहीं एक आदमी ने जाके महात्मा से पूछा हो महाराज ईश्वर कैसा है और तुम ईश्वर को जानना चाहते हो कहा जानना चाहते हैं महाराज ईश्वर को जानना चाहते हैं अच्छा ईश्वर तो सारी दुनिया में रहता है ना इस देह में तुम्हारे जो तुम हो उसको तुम जानते हो सारे तीन हाथ के शरीर में रहने वाले अपने आप को तो तुम जानते नहीं और सारी दुनिया में रहने वाले ईश्वर को जानना चाहते हो छोटा नमूना तो देखा नहीं है? बड़े को पहचानना चाहते हो अरे भाई पहले देखो तुम कौन हो हाँ। तुम कौन इस देखने में बाधा क्या है ये निष्कामता के यहाँ प्रशंसा है श्रोत्रिय से अकाम हदत तुम्हारा दिल घायल है कि नहीं उसमें कोई चोट लगी है तो जब कहीं चोट लगती है ना तो आदमी छटपटा जाता है वो विपट जाता है हाँ, तुम्हारे दिल पर जो बाहर की चोट लगी है नन्ही सी तो बिचारी तिलड़ी हाँ, हिंदी लोग तिलड़ी बोलते हैं तिलड़ी हाँ, नन्ही सी नन्ही मुन्नी तो तिलड़ी और उसमें घुस गया बाहर का मकान तो फटेगा नहीं तो क्या होगा उसने एक दिया साढ़े तीन हाथ का मुठिया मारवाड़ी लोग मुठिया आदमी को मुठियार करते हैं आदमी का नाम मारवाड़ी मुठिया है उसमें घुस गई कोई लुगाया बताया हाँ हाँ माई भाई जरी जरा की तो सिलड़ी उसमें दूसरे को घुसेर करके रखोगे कुछ दिन फटेगा नहीं तो और क्या होगा तो जिसका दिल घायल होता है वो विवचता रहता है वो तकलीफ पाता रहता है आदमी जब चिड़चिड़ा हो जाए ना तो समझ जाना कि इसके दिल में कुछ घुस गया है घुस गया है ये चिड़चिड़ापन क्यों है चिड़का ज्यादा क्यों है तो ये कुछ चाहता है और वो उसको मिल नहीं रहा है ये जितना चिड़ना है उसका गुस्सा का है तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तुम चाहते थे कोई आवे तुमसे नहीं आए तुम चाहते थे कोई प्रेम से बोले तुमसे नहीं बोला तुम किसी को चाहते थे कि हमारे मन के अनुसार काम करे नहीं किया तो ऊपर से चिड़चिड़ाहट आ गई चिड़चिड़ाहट छोटी चीज में जब बड़ी चीज पड़ जाती है तब वो फटने लगती है वो ये दिल के फटने का चिड़चिड़ा होने का यही राज्य है तुम कुछ चाहते हो और वो तुमको मिल नहीं तो तुम अपने घर में तृप्त नहीं हो और एयर कंडीशन दुकान में जाके होटल में जाके बैठ गए तुमको अपने घर का पानी अच्छा नहीं लगता है तब तुम जाके दूसरे के घर में कोका कोला पीते क्यों फिर क्यों जाकर तो अकाम असत्य है जिसका हृदय कामना से वासना से घायल नहीं है वो इंद्र भी नहीं होना चाहता वो ब्रह्मा भी होना नहीं चाहता वो विष्णु भी होना नहीं चाहता है तो वो जो न चाहने वाला है जिसके दिल में प्यास नहीं लगी है वो पानी पीने वाले को जैसी तृप्ति है उससे ज्यादा तृप्ति उसको स्वयं में तो जो अपने पद में तृप्त नहीं है अपने स्वरूप में तृप्त नहीं है उसको दूसरे से रस चाहिए दूसरे से आनंद चाहिए दूसरे से स्वाद चाहिए तो भाई उनके घर में जलपान अच्छा होता है और उस होटल में भोजन बढ़िया मिलता है वहां जाने से चौपाटी की जरूर पूरी अच्छी लगती है तो तो जीत हो और वहां आपको भी कुछ अच्छा लगता है ऐसे जाओ नारायण तो अपने आनंद को न जानकर दूसरे में आनंद जानना और होता यह है कि दूसरा तुम में आनंद मानता है दूसरा चाहता है कि तुम उसको मिलो और तुम चाहते हो कि वो हमको मिले तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है अच्छा एक बात आप देखो आपका कुत्ता आपसे कितना प्यार करता है आपके सामने फूल खिलाता है आपकी गोद में आने की कोशिश करता है आपको अपनी चीज से चाटता है तो उसको आपने कुछ मजा आता होगा तभी तो आप में क्या मजा है इस बात को आपका कुत्ता समझता है परंतु आप नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर क्या मजा है हाँ। ईश्वर की कृपा से सुख क्या होता है किले में रहना माने सत्संग में रहना सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित सत्य में जो है वो दुर्ग है किला है और राजमहल है इसमें रहना और रोज अमृत पीना हो चीज खाना हलवा खाना पूरी इसका क्या मतलब है कि खूब भूख लगे तब खाना तब जो चीज तुमको मिलेगी वही बहुत मीठी बहुत मीठी बहुत मीठी लगेगी तो जिनको भूख नहीं है वो कुछ तो गिरा देते हैं कोई कुछ निंदा करते हैं शिकायत करते हैं तो अब एक बात देखो मनुस्मृति की सुनाते हैं उसमें लिखा है कि आपको वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन किए बिना वेदांत का फल मिल जाए इसका क्या उपाय है मनुस्मृति में लिखा है यज्ञ बान मनते सुते सम्यक गुप्ते सर्वतः गई सर्वमवापनोति वेदांतो भगतम सदाम मनुस्मृति का श्लोक जिसकी बाणी शुद्ध है उसमें क्रोध का मिक्सर नहीं हुआ हो तो लोगों की पानी जो है ना उसमें जब गुस्सा आके मिल जाता है क्रोध के बोलता है लालच आके मिल जाती है और इससे कुछ फल लें कामना आके मिल जाती है मोह पक्षपात बेटी बेटा नातेदार रिश्तेदार ये वाणी शुद्ध नहीं है वो किसी चीज में जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वो शुद्ध नहीं रहती है अशुद्ध हो जाती है आपकी गोली में क्रोध मिल गया आपकी गोली में काम मिल गया आपकी गोली में लोभ मिल गया आपकी गोली में मोह मिल गया अशुद्ध हो गई गोली आपसे शुद्ध हो है शुद्ध गोली मन मनती शुद्ध हित हो गए प्रिय हो गए यदि सत्य भी कड़वा हो तो मत बोलिए बिना बोले काम चल जाए किसी का नुकसान न होता हो तो मत बोलिए बोलना धर्म नहीं है वो हित करना धर्म है भलाई करना धर्म है यवान मन से शुद्ध और मन शुद्ध हो अपनी सुविधा का ज्यादा ध्यान न रखता हो सामने वाले की सुविधा का ज्यादा ध्यान रखता है मन माने सद्भावना संपन्न मन अपना बड़प्पन जाहिर करने के लिए नहीं दूसरे को बड़प्पन देने के लिए मन चाहिए देखो हम ऊपर बैठे हैं हमारे अभिमान भी हो सकता है कि हम तुम लोगों से बड़े हैं इसलिए ऊपर बैठे हैं लेकिन तुम लोग कितने उदार हो दूसरे को ऊपर बैठा कर विनय संपन्न हो कर नीचे बैठ ये तुम्हारी तारीफ है ये तुम्हारा सदगुण है आपका दुश्मन आपको जब मिले तो उसको देख के उठ के खड़े हो जाए और हाथ हो जाए और बड़े प्रेम से मुस्करा के उससे बात कीजिए और अपने से ऊपर बैठा जाए पर देखिए कि आपका हृदय कितना निर्मल कितना प्रसन्न होता है, है? एक बात आपको होता है रात को जब सोने लगे तो थोड़ा ख्याल कीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो हमसे दुश्मनी करता हो कर लीजिए कोई बात नहीं फिर कहिए कि था अच्छा, हम अपना प्रेम उसको देते हैं रात को सोते समय तो जिस हम उसको अपना प्रेम समर्पित करते हैं उसके हृदय में परमेश्वर है हम उसको प्रेम समर्पित करते हैं उसके लिए हमारे दिल में कोई जलन नहीं है उसके लिए हमारे दिल में कोई दोष पुष्टि नहीं है उसको हम अपना प्रेम समर्पित जब बात मन से सोचते आप अपने मन को निर्मल रखिए और वाणी को निर्मल करके बोलिए सम्यक उत्तेज सर्वता और उसको सुरक्षित रखे उसमें कोई दूसरा घुसने न पाए न दिल में न पानी गर्भम सर्वमवापनोटी वेदांतो भगतम फलम वेदांत ब्रह्म ज्ञान उसके हृदय में आवेगा वेदांत का ज्ञान उसके हृदय में आवेगा जो दूसरे का नुकसान चाहता है जो अहंकार से ग्रस्त है जो दूसरे दूसरे के प्रति दुर्भावना रखता है जो दुष्चरित्र है वो वेदांत की बात कर सकता है उसके अनुभव में वेदांत नहीं आता श्री उजिया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोलते थे यक्षदान मन से शुद्धे सम्यक गुप्ते सर्वतः वो बोलते थे सर्वम जन्म मृत्युपदम् ब्रह्मण पदम एकतावान ज्ञान विषय किम् किम करती श्लोक बार बार बोलते थे श्लोक महाभारत में है इसका अर्थ है जहां कपट है जहां तो कुटिलता है वहां मौत आ रही है वहां आकर मृत्यु निवास करेगी जहां कपट है जहां कुटिलता है वहाँ मृत्यु का निवास है बहुत बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है यदि आप ज्ञान चाहते हो तो कुटिलता का परित्याग करो और सरलता का धारण करो इसी का नाम अंतकरण की शुद्धि तो अपने स्वरूप को न चाहना और अलग अलग स्वरूप को चाहना अपने स्वरूप को अपने स्वरूप से जो सुख है उसको देखो ज्ञानी को किसी से सुख खरीदना नहीं पड़ता किसी से उधार नहीं लेना पड़ता किसी से मांगना नहीं पड़ता वो सबको देता है अपना जीवन देता है अपना ज्ञान देता है अपना प्रकाश देता है अपना सुख देता है अपना राज्य देता है सारी विश्व सृष्टि को तृप्त करने के लिए ज्ञानी है बोले भाई असल में जो आनंद देवता में है वही आनंद मनुष्य पहले हम रामायण पढ़ते थे बहुत छोटे थे सभी लोग तो पढ़ते तो नहीं थे पहले मेरे तो अच्छा की पहचान नहीं थी ना हमारी माँ पढ़ती थी बड़े मोटे मोटे अक्षरों में पता गया था तो सब अक्षर हमको एक ही तरीके लगते थे गांव में भेंट करने आते थे हजार हजार पांच पांच सौ भेड़ों का दिन जाता था तो हम नहीं पहचानते थे कि कौन सी भेड़ किस गिरजे की है हमको तो पहचानते ही नहीं थे हमको तो सब भेड़े घेर देते काली काली काली ऐसे कोटी पर काले काले अक्षर हमको सब भेड़े की तरह मालूम करते अब माँ उसको पढ़ के चौपाई बोलती हो बड़े राज से बोलती स्वर से बोलती तो मैं जाके उसके बगल में बैठ रहता भागता देखा बड़े गौर से इसमें क्या है तो सब सारी सारी सारी सारी तो उसने हमको पहचान कराई आते तो ये क है ये क है ये राम है ये सीता है लक्ष्मण है धीरे धीरे मैंने रामायण पर अक्षर पढ़ लिया सीख लिया हमको अक्षर ज्ञान जो है स्वर व्यंजन का ज्ञान मात्रा का ज्ञान रामायण को कोशिश रहा और मैं बांटने लग गया हूँ बिना एक अक्षर लिखना नहीं आता था जब मैं रामायण बांट करता तो रामायण पढ़ती थी और आंसू की आंख से एक दिल होता है ईश्वर के लिए प्यार होता है नहीं बच्चे के लिए रोते हैं समय से स्कूल से नहीं आवे तो दिमाग खराब हो जाता है वो क्या हुआ कहीं एक्सीडेंट न हो गया और ठीक समय पर भोजन न मिले तो बच्चे ये बच्चों करते हैं और मैंने देखा एक आदमी तो उसके सामने थाली आई जरा पांच मिनट देर से आई उसने वो चाली की थाली और उसने दाल रोटी चावल सब खाओ अलग अलग उसमें खाने बने हुए थे शादी की खाद था पाँच मिनट देर हो गई चौके में बैठने पर वो खा के उसने जो वो थाली नीचे एक तीन मंजिल नीचे जाके हमने तो खराब हुआ तो खराब हो थाली जो है वो बिल्कुल घूर मुड़ाए थे हाँ, एकदम टूट गए हमने कहा हे भगवान ऐसे आदमी को तो तुम रोटी देते हो है? जो रोटी का तिरस्कार करता है, है? जो रजसाम जो चांदी का तिरस्कार करता है जो रोटी का तिरस्कार करता है उसको तो संतोष भोजन देते हैं बड़े उदास थे लेकिन महाराज मैंने देखा है ना बीस बरस हो देखा आप उसको खाने को रोटी जो अन्न का तिरस्कार करेगा अन्नम ननिंदा अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए अन्न बहुत निंदा अन्न का खूब आदर करना चाहिए अध्यादन्नम अकुत्तया मनु जी ने कहा मनुस्मृति का है उपनिषद का मनुस्मृति है और अकेले में कहा इसका वर्णन ऋग्वेद समझ में केवलाधो भवती या केवल आदि जो केवल अपने लिए बनाकर खाता है अपने लिए बनाकर खाता है वो केवल पाप खाता है खिला खाता है और ज्यादा न हो तो चिड़िया को छोड़ देते अध्यादंडम केवल आगवती जब केवल अभी अपने हृदय में उदाहरता रखनी चाहिए तो देखो असल बात यह है कि बड़े बड़े देवताओं को जो आनंद मिलता है ब्रह्मा को जो आनंद है विष्णु को जो आनंद है शिव को जो आनंद है इंद्र को जो आनंद है सूर्य में अग्नि में वायु में जो आनंद है वही आनंद जिज्ञासु पुरुष की आत्मा है उसमें भी बनी है और सब मनुष्यों में स्त्रियों में पुरुषों में वही आनंद भरा हुआ है आदित्य चांद देवेशु बुभुत्सव पुरुषो पुरुषे जिज्ञासु पुरुष में जो आनंद है अन्य सु मनुष्य सुच दूसरे मनुष्यों में जो आनंद है और आदित्य सूर्य में जो आनंद है और दूसरे देवताओं में आनंद है वह तो आनंदो न आनंद आनंद में फर्क नहीं है वही आनंद तुम्हारे अंदर है तुम अपने आनंद को अपने रस को नहीं देखते हो अपने स्वाद को नहीं देखते हो देखो सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य को क्या है जिससे तकलीफ मिलेगी साफ कला तकलीफ माने संस्कृत में बोलेंगे साप कला थोड़ी सी भी तकलीफ रोज किसी से मिलने लगे तो उसको छोड़ने का मन लगा और थोड़ा सा भी सुख किसी से रोज मिले तो उसके साथ जाने का मन उससे मिलने का मन तो मनुष्य सुख से प्रयत्न करता है आनंद से प्रयत्न करता है रोने वाले से प्रेम नहीं होता मुक्त कराने वाले से प्रेम होता अच्छा, रोज गुस्सा करने वाले से प्रेम नहीं होता है गुस्सा करने वाले से प्रेम नहीं होता देखते हैं रास्ता छोड़ देते हैं आज तो नीची कर लेते हैं बाबा तो मिलेगा तो चार चला आज आंख कर देते हैं रास्ते आज नीची कर लेते हैं मिलेगा तो चार सुनावेगा अरे अरे मिलेगा तो वही रोने लगेगा वो वही वही अपनी कथा हमारे पास तीन चार पांच आदमी ऐसे होंगे जिनसे हमारा तीस तीस बरस से संबंध है चालीस चालीस बरस से हाँ। उनकी चिट्ठी जब आती है तब रोने की आती है रोज उनको खाने को मिलता है कपड़ा मिलता है मकान है तनख्वाह आती है है ना बेटी है बेटा है पत्नी है है ना शरीर भी ठीक है हाँ। लेकिन जब चिट्ठी आती है तो रोने की आती है ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञ लोग हैं कृतज्ञ जो मिलता है उसका तो आदर नहीं करते हैं और हर समय शिकायत हर समय शिकायत शिकायती रहा इनका नाम शिकायत देखो तिब्बत में एक कथा है एक सज्जन एक दिन फिर से पट्टी बांध के महात्मा के पास गए लामा लोग होते हैं ना लामा के पास गए तो लामा ने देखा बोले अरे हो आज अपने सिर पे डाका बांधा है डाका लगाए थे बोले महाराज दर्द है सिर में इसलिए पट्टी बांध कै बरस का हुआ था तीस बरस का तीस बरस में और कभी सिर में दर्द हुआ है ना महाराज कभी नहीं था तो तीस बरस ईश्वर ने तुमको दर्द नहीं दिया इसके लिए तो एक दिन भी ठंडा नहीं लगाया इस बरस में एक दिन जरा सा दरद दे दिया तो तुम ईश्वर को बदनाम करते करते हो तो उसने हमको दरद दिया है दरद दिया है दरद दिया हाँ, तो जिनकी रोने चिल्लाने की आदत पड़ जाती है स्वभाव तो ऐसा अपना स्वभाव है प्रेम मुस्कान से होता है प्रेम आनंद से होता है प्रेम सुख से होता है हाँ, प्रेम विश्वास से होता है हमारे ऊपर कितना विश्वास है बड़े सेवा से होता है ये हमारी हमको कितना सुख पहुंचाना चाहते हैं प्रेम जहाँ आनंद मिलता है वहां से होता है तो प्रेम कहाँ है तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम किससे है झूठ मत सोचना हो झूठ मत बोलना झूठ मत सोचना तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप अपनी अनुकूलता से ईश्वर अपने मन का काम ईश्वर कर दे ना हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और अपने मन के खिलाफ कर दे तो ईश्वर को भी चार कराते हैं इतनी गर्मी इतनी सर्दी इतनी बरसात और इतनी आज हमको रेत में पैसा नहीं मिला ईश्वर को गाली देते हैं चूहे में अपनी बाजी नहीं आती है ना तो ईश्वर को गाली देते हैं अपने मन का काम न हो माने ईश्वर का एक नौकर है हम जो चाहे सो करे ईश्वर न करे तो हम अपनी अनुकूलता को हे ईश्वर तुम हमारे बेटे पर पहरा दो हमारे धन पर पहरा दो कोई चोरी न होने पावे बेटे को रोग न होने पावे हमारे मकान में आग न लगने पावे हे ईश्वर है ना तुम पहरेदार बन के हमारे घर में रहो ये कोई ईश्वर का आदर है भागवत में एक जगह रहे रहो जो ईश्वर है ना ये अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता है कि उनके चरणों की धूप हमारे ऊपर ऐसा भागवत में लिखा है अब महाराज एक भक्त थे वो कहने लगे कि महाराज इतने दिनों से तो मैं भक्ति करता हूँ और जब रास्ते में चलता हूँ तो घूम घूम के देखता हूँ ईश्वर मेरे चरणों की धूल अपने सिर में लगाता है तो अब ऐसे भट्टों को ईश्वर को तो पहचानता होगा ना आप समझ रहे तो ये हमारी भक्ति इसलिए करता है कि मैं इसके चरणों की धूल अपने सिर पर इसके मन का काम करता इसका नाम सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य का अपने आत्मा से होता है नारायण हाँ, वही ब्रह्मानंद है वही परमेश्वरानंद है वही आनंद है हाँ, वही भजन आनंद है सबसे बड़ा आनंद इसको हाँ, जानो इसको मानो इसको अनुभव करो इसमें बहुत सुख है